उसने कहा ए मेरी कौम क्या तुमने देखा अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज दलील पर कायम हूं और उसने अपने पास से मुझे रहमत अता कर दी फिर तुम पर वो ओझल रखी गई तो क्या हम उसे ज़बरदस्ती तुम पर लाजिम कर देंगे जबकि तुम उसे नापसंद करने वाले हो